गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन क्या गोप गोसाई नामा की छान छवाइया नामदेव की छान यानी झूपड़ी खुद भगवान ने आकर छवा दी थी बनवा दी थी छान छवाई गौ जवाई गणकाचरी विमान में सदना बकरे को मत मारे पहुंचे आनंद दान में सदना के भी ईश्वरीय शक्ति बकरे में कबोली थी अजामेल से अदम उधारे पति पावन बरतास है केशव आण बया बनजारा सटदल की मिया से कि केशव नाम से परमात्मा आकर कबीर साहेब और एक बंजारे के रूप में आगे थे किसी ने हंसी कर दी थी चिट्ठी भेज दी थी अठारह करोड़ अठारह लाख वो आगे थे महात्मा दन्ना भगत का खेत न पाया माधव दई शिकलात है पंडा पांव बुझाया सतगुरु जगन्नाथ की बात है जगन्नाथ में पांडे का पांव बुझा ये ब्रह्मवेदी में सारी कथाएं आपका समझ मान लग जाएंगी जब वाणी पढ़ोगे इन कथाओं के ज्ञान हो जाने से फिर कहते हैं कि भक्ति हेत केसव बनजारा संग्रह दास कमाल थे हे हर हे हर होती आई गुण सही और फालते गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है ये सारे वर्णन करके विनो का जो कुछ सैयद बंदी छोड़ कबीर साहब है गैबी ख्याल गैबी कहते हैं गुप्त अवर्णनीय गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है भक्ति हेत केसव काया धरे आए अवगत सत कबीर है इस भक्तों की भक्ति के कारण <clears throat> काया का आगे यानी स शरीर यहां प्रगट हो जाते अवगत सत कबीर है नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही सुख सागर के हंस आए भक्त ही रंबर उर्दरी कोटि भानो प्रकाश पूर्ण रोम रोम की लार है अचल अभंगी है सत्संगी कोई अवगत का दीदार है धन सतगुरु उपदेश देवा चौरासी भ्रमेत ही तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंटी अपना तेज पुंज का शरीर बनाकर बंदी छोड़ कबीर साहब और हमें दर्शन दे जैसे गरीबदास जियों को छुड़ानी में दिया धर्मदास जियों को दिया गीसा संत को दिया दादू साहेब को दिया इस प्रकार महाराज के किरा कितना आकर दर्शन दिए तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही शबद निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है और चंद सूर नहीं पावन पानी ना जा छाया धूप है सतलोक में रहता रमता राम साहिब राम हम सतलोक के मालिक पूर्ण ब्रह्म को राम कहते हैं रहता रमता राम साहिब अवगत अलह अलेख है भूले पंथ विटम्बवादी भाई कुल का खामिद एक है देख सब नौके कहे सबका मालिक एक सबका मालिक एक और फिर नौका ब्रह्मा ब्रह्मा उस तो बड्डा विष्णु उस तो बड्डा फिर एक कहां रहा एक तक तक पहुंचते को ना हम भाई जैसे मुख्यमंत्री राज्य में एक है बिल्कुल ठीक है वो यहां का मालिक से और नीचे जिले में डीसी है यो भी एक है और प्रधानमंत्री भी एक से पर एक असली में तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से यानी राष्ट्रपति एक है फिर प्रधानमंत्री भी एक है जैसे अक्षर पुरुष भी एक है और सतपुरुष भी एक है और इससे ऊपर जो है वो सारी शक्तियां सतपुरुष की ही है नाम अलग अलग से यानी वो इतने कार्य यवन नहीं है जितने के प्रधानमंत्री है इसी प्रकार सतलोक के मालिक जो सतपुरुष हैं इनसे ऊपर भी तीन लोग और हैं परंतु वो इसी सतपुरुष की शक्तियां तो यहां कहा कुल का खामिद एक है विष्णु जी का उपासक विष्णु जी को एक मानता है कि ये सब कुछ है शंकर जी का उपासक शंकर जैसे आप साईं बाबा की तस्वीर देख रहे हो वो भी कहते हैं सबका खामिदे मालिक एक है और शंकर जी के उपासक हैं शंकर जी के उपासक हैं और कहते हैं सबका मालिक एक है यानी वो शंकर जी को ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और सबसे उत्तम सब सारी सृष्टि के कर्ता मानते तो इस प्रकार जो जिस चीज का उपासक है उसी को परमात्मा मानकर सबका मालिक मान लेता है अब असली मालिक सतलोक के मालिक सतपुरुष हैं इन सब के मालिक केवल सतपुरुष हैं पूर्ण ब्रह्म हैं वहां तक हम पहुंचते नहीं तो यहां कहा कि रहता रमता राम साहेब अवगत अला खलेख है भूले पंथ पंथ कहें जो बने हुए बेख बिटमवादी बिटम कहे बेतुकी बात मारनीय यानी अपनी अपनी गढ़नीय भूले पंथ बिटम्बादी कुल का खामिंद एक है रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दल मेल है जब हम भंवर गुफा से पहले पारब्रम लोक में अक्षर पुरुष लोक में अष्ट कमल दल में जहां दर्शन होते इस संसरार कमल से काफी ऊपर है उसमें पहुंच जाते हैं तो वहां हमें ईश्वरीय पूर्ण ईश्वरीय शक्ति की झलक शुरू हो जाती है अष्ट कमल दल मेल है सुरत नृत को कमल पठाओ जहां दीपक बन तेल है वहां जो रोशनी है वह बिना किसी की चसाई हुई है बिना तेल के यानी ऑटोमेटिक सौत चसती रहती है सौत प्रज्वलित है यहां पर भी आप देखोगे जवाला जी के ऊपर अपने आप अग्नि निकल रही है वहां कोई नहीं जलाता उस ज्योति ने कई तो इसने भी ना माना कोई झूठ बोल रहे ऊपर आपका क्यों कर जला थी तो ये तो प्रमाणित यहां पर है पृथ्वी पर तब तसली हो जैसा कहा ठीक है हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है त्रिवेणी फिर त्रिकुटी से ऊपर जाकर होती है उस त्रिवेणी पर जाकर के योगियों के तीन रास्ते हो जाते वहां बंदी छोड़ बैठा है योगी अपने जाओ और स्वादा किता जाओ अपने हंसन त्रिवेणी से पार ले जाकर अपने ऊपर के मंडलों में पहुंचा देता है अब हम आपको इसी का और विशेष पूर्ण रूप से वर्णन तो बंदी छोड़ने दिया है कबीर साहब ने गरीबदास जी ने इसमें दिया फिर अलग अलग ढंग से पूरा दे रखा है वो भी आपको समझा पहले इन्हीं का बता देते हैं फिर वो बताएंगे इसमें आता है महाराज कहते हैं कि अंग है सतगुरु महाराज का शब्द है ररंकार रमता रहे मन बौरा रे ररंकार रमता रहे मन बौरा रे इसमें सारा भेद देते हैं बंदी छोड़ के ऊपर के के कमल से ररंकार रमता रहे मन बौरा रे तुही ही तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे सो हम सबद सही मिल मन बोरा रे अग वेद अपार समझ मन बोरा रे अब सोहम मत माता ध्रुव भी थे यही जाप किया करते शंकर जी भी जप पर ये पार नहीं हो सकते और नाम हम भी जो हमारे बंदी छोड़ के सतगुर सो हम नाम दे गुज ब्रज विस्तार पर बिन सोहम सी जनी वो मूल मंत्र निशा अब यहां बंदी छोड़ उसका फिर प्रमाण देते हैं कि सोहम शब्द सही मिल मन बोरारे अग वेद अपार समझ मन बोरारे अब गोड़ी दे दी बंदूक दे दी पर चलाना फिर कहां लगाना निशाना न थोड़ा किसी में ठोक दे अपना जो आवश्यक वस्तु खुद हमने लेनी उसी पर लगाएंगे सोहम शब्द सही हिमल देनिया सोम शब्द का जैसे सोहम शब्द देव है <clears throat> आपने देखा होगा सोहम मंदिर है यहां पर आपके रोहतक में और सोहम वो शिव जी का उपासना देते हैं तो सोहम शंकर भगवान का जाप करवाते हैं ठीक है सोहम एक जहाज है इस सोहम द्वारा आप किसी लोग की उपासना कर ले वहीं ले जाएगा हम इसका कहां के लिए उपासना करें इस सोहम शब्द से वो आप समझते रहोगे साथ साथ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सोहम सबद सही मिल मन बोरा रे अग वेद अपार समझ मन बोरा रे जहां ज्ञान दान की गम नहीं मन बोरा रे सुरत नृत ना जाव समझ मन बोरा रे अब देखो कई लोग सुरत नृत का जाप से जब स्वर्त नरक भी वहां खत्म हो जाएगी वहां के चीज जागी ये वस्तु पकड़ने की है भाई कोटक प्राणी दान धरे मन बोरा रे उलट पड़े भो आए समझ मन बोरा रे करोड़ों प्राणी भगजन ध्यान धरते हैं और उल्टे फिर भव सागर में आ जाते कुछ दिन का तप बन जा सैनो बैठता है और उसके बाद तप के बदले थोड़े दिन स्वर्ग फिर राजा फिर नरक सिरसाटे का खेल है मन बोरा रे सूढ़ी ऊपर से समझ मन बोरा रे या सूढ़ी से देखो दुनिया तो शराब में मगन फिर पिक्चरा में मगन ओके और सिगरेट और सुल्फे में मगन और हम सारी को न छोड़कर काम ने भी छोड़कर रहे खेता पर मगन फिर बाकी टेलीविजन पर मगन इनको छोड़ना या छोटी बात नहीं या सूढ़ी से इन कति सबको त्याग के हमारे बच्चे आप देखोगे जिस दिन से नाम लिया है सतगुरु की भक्ति संतरित तो हुई उस घर में हम जाकर ने पूछा ना क्योंकि वीसीआर बनवा लिया हमने भाई टिक, टिक, ले ली कैसेट बनवा ली वीसी पीसीपी की और वीसीआर अपना ले रखा किसी का पूछा ना भाई टेलीविजन ठीक से न्यू कह हमने तो तार तोड़ कर दे रखी उस दिन की अब इनके बच्चे उस समय जोर के तो पिक्चर देखे महाराज भक्ति करें यानी आरती करें ईश्वर की स्तुति करें तो यूं पता चला कि सरसठ यू सर का साटा है जो आज आप काम भी छोड़ का हो इस यू सर देना और कोई नो नहीं काट कर दे देना सरसटे का खेल है मन बोरा रे सूढ़ी ऊपर सेज समझ मन बोरा रे ये गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ में से अथराग सरबंग है 818 पेज पे जहाँ शंख कोट रवि मुल मुन बोरा रे नूर जहूरम तेज समझ मन बोरा रे जानो के शंखों सूर्य जैसा प्रकाश सतलोक में है कायर भाग देखते मन बोरा रे वो सुन अनहद घन गोर सुमझ मन बोरा रे जब हम विष्णु लोक को पार करते हैं और फिर महासुर्ग जब आता है इसका निरंजन का ब्रह्मलोक इसको जब पार करते हैं इतनी गजब आवाज आती है जैसे बादल गरजा करे एकदम बिजली जानू या पड़गी बहुत इससे जो यहां खुड़का आप सुनो इससे कई गुना खुड़का ज्यादा होता अंदर <clears throat> उसे गर्ज धुन कह से और उसने देख कर कहा जाएगी तो उड़े तो उल्टी सूरत गोड़ी हो ले तलेन यानी फिर बोड़ कर नहीं जानती इतना भय मान जाते कई उपासक अनुसाधक साधक मिले संत भी न बोले एक बार कोशिश करी थी और इतना डर लग गया मैं तो उल्टा आ गया जब पाछा रुए नहीं कर दी ऊपर चढ़ा दू वो मनमुखी चढ़ा रहे हैं जब सतगुरु साथ होगा फिर भय नहीं लगता नाम साथ होगा नाम की कृपा से वो ईसा जागा जान हुए और ऐसा खुड़का के कायर भागे देह खे मन रे सुन अनहद गन गोर समझ मन बोरा रे गाव नहीं मैं गावल मन रे कोई सूरा उतरे सी ठोड़ सुन मन बोरा रे के को सूरमा ही स्थान पर रहेगा बाकी सब भूल चल जाते हैं छोड़ जाते हैं लोजा पीठ न फेर ही मन बोरा रे लोजा के सावत बहुत मतलब पूर्ण रूप से जो रुझारू होता है लड़ाकू होता है लोजा पीठ न फेर ही मन बोरा रे सन्मुख अर्प शीस समझ मन बोरा रे तन मन मृतक हो रहे मन बोरारे तिस भेंट जगदीश समझ मन बोरारे तन और मन आपका मृतक है आप परमात्मा के दरबार में सारी को बदन छोटकाए हमारे बच्चे सत्कर्मानो हमने जो है ना चौबीस तारीख का फाग था उस दिन भी पाठ शुरू हुआ खानपुर गांव में और चौबीस को भोग लगा जींद यानी उसमें कर्मचारी कॉलोनी है उसने क्या बोला है एम्प्लॉयज कॉलोनी में तो हमारे बच्चे छोटे छोटे जो स्कूलों से छुट्टियां हो रही थी वहां थे इन किसी के साथ में पानी तक ना डाला और ना डलवाया ये अपनी भक्ति कर रहे थे और वह राजी हो रहे माँ बाप थे लाल लाल थोबड़े करके बांद्रा इतरी हंडे थे कूदते तो उनने इतना ही ज्ञान है तो ये मृतक हो चुके हमारे बच्चे इनकी रूह भी ना करती खेलन तो कहते तन मन मृतक ओ हो रहे मन बोरा रे तिस भेंट जगदी समझ मन बोरा रे सतलोक कूचा चालिए मन बोरा रे पर क्यों करे संत समागम हेत समझ मन बोरा रे सतलोक न चालना पर क्यों करे संत समागम ये सत्संत समागम है ये सब संत है वस्त्र भिन्नता से संत नहीं होते जो कमाई करता है किसी कपड़े पहन लो लाल पहरो गेरवे पहरो चाहे वह सफेद पहरो चाहे ऐसे हो ये सब संत समागम है जो रोजाना भगवान को सौ शोभा याद करें हजार हजार पे याद करें उस नाम का जाप करें ये संत है तो संत समागम हेतु सत्संग माने से आपको ज्ञान हो और फिर रुचि बने उस परमात्मा के पाने की सतलोक को चाहिए मन बोरा रे संत समागम एत समझ मने बोरा रे ता एक गुमट अनूप है मन बोरारे रे जा छत्र सिंहासन सवेत समझ मने बोरारे रे एक जो सतलोक में महाराज का सफेद गुमट है और उसमें सतगुरु महाराज के दर्शन होते हैं जैसे आपने छुडानी का मंदिर देखा होगा उस जो की त्यों नकल उस परमात्मा के लोक की है सतलोक की जहां सतगुरु के दर्शन होते हैं जो के तो ऐसे मूर्ति उनकी है लेकिन उस मूर्ति नहीं है वो खुद बैठे वहां पर और इतना आनंद आता है उसको देख करके पूछे मत कहते हैं तहा एक गोमट अनूप है मन बोरा रे जहां छत्र यानी ऊपर छत्र सिंहासन के ऊपर बैठे और शेत समझ मन बोरा सफेद सिंहासन पर ऊपर छत्र है सबद महल गुलजार है मन बोरा रे जहां डोरे सोहंगम चोर समुद मन बोरा रे दास गरीब तहाँ रते मन बौरारे जा गूंजे उज्जवल बौर समझ मन बौरारे अब आगे बिल्कुल ये बताते हैं जो कि आपने अभी सुने थे <clears throat> सारे कमलों के बारे में या काया छन भंग है मन बौरारे सुमरो सरजन हार सुमज मन बोरारे अब सर्जनहार पर रोड़ा पड़ेगा अब देखो तीन लोक के सर्जनहार ब्रह्मा विष्णु महेश इक्कीस ब्रह्मताई का सर्जनहार निरंजन जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश महेश भी उस सन बनाए और ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म जिसने निरंजन की भी उत्पत्ति हुई उसी के अंडा फूट जाने से इस निरंजन का सर्जनहार परब्रह्म यानी ब्रह्म का सर्जनहार परब्रह्म यानी बाबू का को पैदा करनिया दादा परदादा फिर उसका दादा का फिर परदादा है तो ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म परब्रह्म सर्जनहार है नीचे सार्या का और परब्रह्म उत्पन्न हुआ सतपुरुष कबीर साहब ते यानी सतलोक के मालिक ते तो सबका सर्जनहार कौन हुआ बंदी छोड़ कबीर साहब कहते अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर है भाई कुल के सर्जनहार ईब जब इस कथाओं का आप सुन लोगे फिर ये वाणी समझ मान लागेंगी ना तो को आड़ो सर्जन आर कह उड़ो कदे रामकृष्ण नजर आ रहे हैं इब ती डी जो सुथरे काम करे से वो प्रधानमंत्री भी प्रेज करा कर उसकी तो उसकी प्रेज कर दी नो थोड़ा को प्रधानमंत्री बन गया तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी के इतने गुण गा रखे गरीबदास जी ने या गीता जी भी नहीं गा सकती कृष्ण लीला भी नहीं गा सकती आपको सुनावांगे पर नो थोड़ा है नो को आवड़ा बोला लाग रहे सराहना तो अच्छी चीज है जो अच्छे काम करे रास को पीटा जो भक्तों को दुखी करा करते तो या तो अच्छी चीज करी उन्होंने पर नो थोड़ा ये पूर्ण ब्रह्म हो जाएंगे तो हम इस ग्रंथ साहब को समझ नहीं सके समझे वो जिसके ऊपर बंदी छोड़ के अपनी कृपा और रजा हुआ करे या काया छन भंग है मन बोरा रे सुमरो सर्जन हार सुमज मन रे ये काया तो अक्षर भंगूर है छिन्न भंग की मेरा कोड पर नष्ट हो जाए रोम रोम रोम धुन ध्यान धर्मन बोरारे आठों कमल उचार सुमज मन बोरारे अभी आपने ये आठ कमल है इसमें वैसे हमने सात दिखा रखे क्योंकि योगी अन सात इन का बेरा से मूल कमल का स्वाद कमल चक्र का नाभि का विष्णु का माता का त्रिकुटी का सहस्त्रार कमल का पर इसमें एक कमल और है तो बंदी छोड़ना बता रखा और हम दर्शन करते हैं ये कहते आठों कमल उचार आठ कैसे हैं तो जब तक हम इसका पूर्ण रूप से जाप नहीं ज्ञान होगा तब तक हम इसका लाभ नहीं उठा सकते आठों कमल उचार समझ मन बौरारे आठों कमल उचार समझ मन बौरा योली योलाहा क्यों ना ली जिए मन बौरारे रे सुरत निरत कर लीन समझ मन बौरारे पंछी खोज न पाइये मन बौरारे जो दरिया मदमीन समझ मन बौरारे अब कहते हैं कि पंछी जैसे यहां से उड़कर वहां चला गया बीच में के निशान बना कुछ नहीं बना इसी प्रकार मेरा रास्ता बंदी छोड़ कहते हैं हमारा रास्ता है ना कोई पा सकता हम यहां से आपको मंत्र देंगे आपकी सुरत तंदे ही ऊपर बदागी फिर कोई नहीं ढूंढ सकता उसको जैसे यहां से पक्षी उड़ गया बीच में कोई लाइन नहीं बनी निशान नहीं बना पंछी खोज न पाई ये मन बोरारे जो दरिया मद मीन सुमज मन बोरारे ये सागर है पर अर जहां से मछली लकड़गी उसका कोई निशान नहीं बनता कहते ऐसे रास्ते से मैं आपको ले जाऊंगा फिर पांच तत्व के मध्य है मन बोरारे नौ तत्लिंग शरीर सुमज मन बारी यह योगी मुश्किल से नौ तत् का शरीर बना करके उड़ना शुरू कर देते हैं जहां चाहे अपनी रूप धारण कर लेते हैं कहते नौ तत् का भी नष्ट होता है आपको प्रमाण बताते हैं कि ऋषभ देव का एक ऋषभ देव नाम के वह जो जिससे जैन धर्म चला उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति करके नौ तत् का यानी लिंग शरीर बना लिया लिंग शरीर है रोशनी में तेजों में और जब चावे जहां प्रगट हो जा कहने लगे वो वहां से निकलकर बण में चला गया इस शरीर ने छोड़कर अपना लिंग शरीर बना लिया यानी नौ तत् का और उसमें मुंह में पत्थर देकर सारे घूम रहा जो देखा उस जगह कलजा पाटन नौ हजार भाग ले यानी डर जा को फिर कहते हैं उस आग लागी बनखंड में और नत नौ तत् का शरीर भी यानी लिंग शरीर भी वहां नष्ट हो गया अब देखो बंदी छोड़ कहां लाते हैं नौ तत् पांच तत् के मदे है मन बोरारे एक नौ तत् लिंग शरीर समुझ मन बोरारे ये पांच तत्व के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो नौ तत्व का है और उसको भक्ति करके ये उपासना सिद्धि प्राप्त करके उसको लिंग शरीर में प्रवेश करके जब चाहे प्रकट हो जाते हैं नौ तत्केत आगे है मन बोरा रे अजर अमर गुरु पीर समझ मन बोरा रे इस नौ तत्के से भी आगे एक सतपुरुष बंदी छोड़ का जो मार्गदर्शन है वो असली रूप तेज पूंज का जोश है वो सतगुरु महाराज का शरीर है अजर अमर जो कभी जड़ता नहीं अमर है मरता नहीं सूक्ष्म रूप है ताश का मन बोरा रे और चतुर्भुजे चतरंग समझ मन बोरा रे अब चतुर्भुजी चित्रंग चार बुझाने से जो करूं मामूली से जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का अगर डीसी कोई खास शक्ति नहीं होता और वैसे कम भी नहीं होते ये विचार की बात से समझ नहीं समझ जाएंगे कहते चतुर्भुजी चतरंग समझ मन बोरारे ये चतुर्भुजी चतरंग समझ मन बोरारे अष्टभुजा है तास मद मन बोरारे और मूर्ति अचल बिहंग समझ मन बौरारे अब कहते ना प्रधानमंत्री की शक्ति में डीसी वाली भी है मुख्यमंत्री वाली भी है तो ये वर्णन करें कि उस परमात्मा सतपुरुष के अंदर भाई थारे निरंजन वाली शक्ति भी है पर ब्रह्म वाली भी है और ब्रह्मा विष्णु में चार बुझाएं वाली भी है आठ बुझाएं वाली की भी शक्ति है और सैस हजार बुझाड़ा भी उसी की साथ हो लेता है सहस भुजा संगीत है मन रे सहस के एक बुजार बुझाओं का जो विराट रूप दिखाया था कृष्ण ज्ञाता ने वो निरंजन का रूप था ये विराट रूप कोई बड़ी बात नहीं एक राजा भी बताते हैं वो दिखा दिया करता एक सिद्धि से हो जाता है सहस भुजा संगीत है मन बोरा रे शिखर सरो बैराट समझ मन बोरा रे विश्व रूप है ता समझ मन बोरा रे गुरु लखाई बात समझ मन बोरा रे अब इससे ऊपर क्या है अब कहते हैं शंख चक्र गदा पदम है मन बौरारे कौस्तमणि झलकंत समझ मन बौरारे धनुष बाण मूसल धजा मन बौरारे अजब नवेला स्कंत समझ मन बौरारे खड़गदार बुज दंड है मन बौरारे फरके धजा निशान समझ मन बौरारे के ये निरंजन की हजार बुझाओ में ये बता रहे किसी में मूसल से किसी में तीर से किसी में शंख से यानी ब्रह्मा विष्णु महेश धरती तो चार दे रखे हाथ अपनी माई में आठ अस हैं और उस तक तो ज्यादा नरन जन्म का एक हजार हाथ से काल के और कहते हैं उसमें किसी में मूसल से किसी में झंडाले रस है किसी में तीर से किसी में बद पदम से यानी सारी बल खड़ग तो कहते हैं फिर नरख परख के देख ले मन बोरारे सच्चे सतगुर के परवान समझ मन बोरारे केवल सारा ने परख लेते हैं अब अपने आप चौन्नी अठनी रुपये का सारा बेरा पिट जाएगा रुपया तो रुपये का काम करेगा दस का भी रुपया कब आवस है नोट रुपया भी नोट से और भाई सौ का भी नोट से पांच सौ का भी नोट से तो इस तरह देख लो नोट सारे हैं राम सारे हैं ये पर कीमत में बहुत फर्क है नरख परख के देख ले मन बोरा रे सच्चे सतगुर के परवान समझ मन बोरा रे ये कहता आगे सतपुरुष है कति खोल कर बता रहे हैं इब निरंजन से भी ऊपर ने कहे सतपुरुष है ता आगे सतपुरुष है मन बोरारे जाके भुजा असंख समझ मन बोरारे कि महाराणे भगवान के असंख भुजा है तंता जारम राजी हो रे और मरपड़ के चारा आड़े बहुत बड़ा मान रहे सो तो ये समझन का जब ज्ञान हो जाएगा ना देखो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जिया की पूरी शक्ति का ज्ञान था कि इतने ये कर सकते हैं भगवान की संज्ञा में लिए और हैं भी अब ज्यादा विवरण की आवश्यकता नहीं समझदार ने थोड़ा इशारा बहुत कहते हैं ता आज्ञा सतपुर से है मन बोरा रे इन सब से आज्ञा नहीं होगा फिर सतपुरुष जाके भोजा असंख समझ मन बोरा रे अब अंत कोट रवि जल मिल मन बोरा रे अंश उड़ बिन पंख समझ बोरा रे कहते हैं अनंत करोड़ रवि यानी सूर्य जैसे वहां उनकी रोशनी हो रही है शेत छतर चौरा ढुर मन रे दमनी दमक दयाल समझ मन रे दामनी कह बिजली दमके बादल बिजली चमके पर खुड़का ना हो इतनी चमक यानी ऐसे बिजली सी टूटती और पड़ती रहती पर आवाज नहीं है उनकी इतनी आनंदित होती है जब आवाज आवाज तंडर लग गया है और वो चमका जब तो ठीक लगे बहुत सुंदर है सफेद दामनी चमकती हम अमर कच्छ अनहदपुरी मुन बोरा रे अमर कच्छ अनहदपुरी अमर कच्छ के वो पूर्ण रूप से अमर है उसमें और कोई करनी नहीं करनी पड़ती वहां जाए पाच कच्छ माने करनी सतगुर नजर निहाल समझ मन बौरारी अब सतगुरु गरीबदास जी कहे कि ना तो योग जा सकते ना तपते उसने पा सकते ना करोड़ तीर्थ कर ले जब नहीं पा सकते वो साधना नहीं सतपुरुष पाने का तनो का बंदी छोड़ की दया होगी जो पल में पहुंचा देगा अनंत जुगन की बाट थी मन बोरारे पल अंदर परवान समझ मन बोरारे अनंत जन्म की करा कितने युगन की बाट थी किरा कद सूत बैठा हो गुरु मिल जा जब पूर्ण सतलोक का दर्श मार्ग दर्शक अरे को पलमा ही परवान समझ मन बोरा एक पलक में पार कर दिया हम तो भाई गरीबदास जी ने कह विश्वास करियो हमारे भगवान गरीबदास पर कबीर साहब पर मेरे दया से पाई मन बोरा रे ओ दर गए दीवान समझ मन बोरा रे अब गुरु की शरण में आवे और गुरु की रजा हो जा जब आपको वह वस्तु मिले मिहिर दया जब गुरु की रजा हो जाए कल शब्द सुना था ना कि परसों सुनाओ थी छोरी बहन के गुरु मेर करे तो कागत हंस बना दे अब मेर बहुत बड़ी चीज है अब जिस पर अंतकरण तक रजा जागी ना आप पे कि यू बहुत मतलब मर्यादा में भी है भक्ति भी करे से और बहुत शरीफ से उसमें आप पे कुदरती बात है कहे तो नहीं होंदा यो काम हमारे गुरु जी एक साल के पच्चीस साल लगे हुआ था अभी पूरा होने था और जब शरीर छोड़ा और कम से कम उनके लाखों शिष्य होंगे जिसमें उन्होंने भेख भी दिए बाणी भी दिए बतेरिया ताई लाल कपड़े भी रंगे पर नाम देने का अधिकार नहीं दिया उनको और मैं कुछ भी नहीं था उनके सामने पर उन बेराना के तय देखा के वस्तु ढूंढी मारे मैं अपने आप सर पादर कहने बोला भाई नाम दिया कर तो ये कहते हैं कि मेहर जिस पर वो करें तो कागते हंस बना दे और जब तक ऊपर से गुरु हुक्म नहीं करता और वो नाम देश है वो नरक का बागी है अब जिस प्रकार कोई अधिकारी हो ऊपर से गवर्नमेंट हुक्म कर दे कि आप इतने जवान भर्ती कर लो इतने फलानी पोस्ट के लिए अगर जब वो भर्ती करे से अपॉइंटमेंट लेटर देता है तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलेगा पर देगा अथॉरिटी वही अथॉरिटी अपॉइंटमेंट वही उसी की है उस बिना और नहीं दे सकता और जब वो उसके हुक्म बिना अपनी मर्जी ते कैक भर्ती कर सका अपनी तनख्वाह में ते एक भी ना रखा जा और अधिकार होने पाछे वो सारे भर्ती करे कम अपॉइंटमेंट लेटर दे दे फिर गवर्नमेंट संभाला से इसी प्रकार जिसको अधिकार दे दिया उस परमात्मा ने फिर वो कितने नाम दो उसका कोई आंट नहीं लगती टोटे अगर कोई बदमाशी करेगा जवान तो उसको काट दिया जाएगा आपका काटे गवर्नमेंट उसने कोई आंट नहीं इसी प्रकार हमारा फर्ज है जो अधिकारी हो फिट हो फिर हम करे हैं बीड़ी शराब मास तमाखू छुटुआ के और ताश फिर नाम दे दें यानी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे अगर ठीक रहेगा तो ठीक से ना तो गवर्नमेंट काट के बाहर भगा देगी मर कुएं में पड़कर सारे अधिकार छीन लेगी सारी सुविधा छीन लेगी तो इसी प्रकार हमने नाम लिए पाचा ज्यादा सुविधा सावधानी चाहिएगी मेरे दया से पाई ये मन बोरा रे ओ दरगे दीवान समझ मन बोरा रे संखियोजन पर लाल है मुन बोरारे दम क्या दशम दम क्या चिस्म्यो तीर सुमझ मुन बोरारे योजन यहां से सोलह संख कोष की दूरी पर मृत लोक पाताल लोक से सतलोक है और ये जो है मृत मंडल पृथ्वी मंडल से वहां पर जब हम जाते हैं तो संख योजन यानी चार लाख कोष जब हम तय कर लेती है सूरत जब एक लाल बहुत सुंदर है उस लाल की आकृति हम नहीं बताएंगे क्योंकि फिर आप वो लाल कहण ने लाल से पर उसका जो वर्णन और उसकी जो चमक से वो कुछ और से उस पर यानी चौथी चौथा हिस्सा जब हम तय कर लेते हैं मंडल का जब वो दर्शन होते हैं जिसको उसके दर्शन हो गए उसमें ईश्वरीय शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है आगे बढ़ने की और उसको सुविधा हो जाती है शंख योजन पर लाल है मन बोरा रे नको शंख योजन पर एक तो हम जावा और एक सतगुरु की कृपा तो वो हमारे जब हम धान लगाए थे एकदम हमारी नृत्य के सामने आ जाता है यानी एक तो हम अपनी विधि तो जावा करा कह जन्म में पहुंचा उसकी कृपा से ओ हे आ गया ये हमने काम बनवाना से मान लो प्रधानमंत्री से मिलना और महाराज उनका ऐसा मेल हो जाओ आप आ जा करना कोई बड़ी ओ काम तो जब भी होना हम वहां जावे किराया लावे अरे इधर दौरा हो हमारे घर आ जाओ बोल भाई ठीक सो ठीक यू काम तो अच्छा कर दियो भाई तो इतना हमारा उसे संपर्क हो जाएगा ऐसी बड़ी बात नहीं और वो ज्यादा दयालु है दास गरीब लखाइया मन बौरा रे मुर्शद मिले कबीर समझ मन बौरा रे कि मेरे को मेरे बंदी छोड़ कबीर साहब ने मुर्शिद के हैं गुरु मिले और उन्होंने मुझे बताया अब इस प्रकार बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि पूर्ण रूप से ज्ञान जब हो जाएगा ना इसमें गणे चक्कर ना काटने पड़े तोड़िए समझ मान लाग जाए बात अभी आपको एक और शीशी के प्रमाणित एक शब्द सुनाते हैं आपको नगरिया बावरी रे बंदी छोड़ कहते हैं नगरिया बावरी रे देख्या सुरत नगर सुभान सूरत नगर सुभान मेरी सूरत ने देखा वो नगर सुभान जो कि बहुत पाक पवित्र है मैं आजीज दगड़ा नहीं जानो दगड़ा कहीं रास्ते ने मैं उड़ा जाना भी नहीं जानो था मैं आजीज दगड़ा नहीं जानो पहुंचे हैं रे पहुंचे हैं सतगुरु के परवान मारे गुरु जी ले गए सतपुरुष खुद कबीर साहब आ अनंत योद्धा जहां रखवारे ना कोई पावरे ना कोई पावर जान वहां कोई नहीं जा सकता और लाख जग असमेघ उठावे कोट गौ कोट गौ देरे दान और अड़सठ तीर्थ पर भी नावे इंद्र दोन कर रे इंद्र दोन स्नान यानी इन तभी बात नहीं बने और गया प्रयाग जहां मकर महीना और कीजय रे कीजय पिंड प्रधान और काशी जगन्नाथ के वासी जाना हो तारे ना जाना हो वह कल्याण और कहते हैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा देव नहीं अर्ध नाम कीरे नहीं आधे नाम के भी परवान देखो कमाल करे कोट अश्वेघ यज्ञ कर ले करोड़ों पर जो है तीर्था पर घूम ले सारी पृथ्वी की प्रदीक्षिणा दिया है ईब ते दे गोवर्धन की प्रदीक्षिणा नौकर सारी पृथ्वी पे हांड लेना तुम तो। आधे नाम का बराबर नहीं है ये बताओ नाम की महिमा विचार की बात सही लाल के सामने मेरे ख्याल में बाप को के बतावा भाई सौ मण गेहूं भी पांच सौ मण चने भी लाख मण फलाने भी वो भी ना हो सकते इसमें के सब की बात से नहीं हो सकते लाल अरबों की कीमत का से तो सतगुरु का जो नाम है अभी राग होरी में आपको सुनावेंगे कि इस जो हम नाम देते हैं इसकी कितनी कीमत है तो यहां कहा आद्य नाम का भी परवान यानी उसके समान भी नहीं है शेष शेष शीस पर निर्गुण रासा जहां वहां धरिया अरे जहां वहां धरियो ध्यान शेष के शीश पे शेष नाग के मुकुट से की सीध में बहुत ऊंचाई पर एक जटा कुंडली नाम का धाम से जहां पर है मतलब क्या नाम है शंकर भगवान भी जटा कुंडली पर ध्यान धरे से और वहां पर एक बहुत बड़ा सरोवर से उसमें गंगा आई थी सतलोकता आकर उसमें पड़ी थी निरंजन के धाम पाई निरंजन से वहां आकर गिरी तो ये अनजान आदमी नौके हैं शंकर भगवान की परसों भी दिखाई थी मनवा जटा नौके इसमत गंगा लकड़ी और इसमत छह महीने राखी इन नोविना बेरा स्थान है कहां पर बेतुके डंगते अपनी कथाएं गढ़ रखी यानी शास्त्रों को समझ नहीं पाए तो कहते हैं शेष शेष शीश पर निर्गुण रासा झावा धरियो रेज वहां झावा धरियो ध्यान और शंख चक्र गदा पद्म विराज और धनुष चढ़ाए रे धनुष चढ़ाए बाण अष्ट भुजा पर शेष भुजा है आगे ना आठ भुजाड़ी तो ऊपर एक, एक हजार भुजा का भगवान निरंजन है अष्ट भुजा पर शेष भुजा है फरक रे फरक दजा निशान अब झंडी तो डीसी की कार पे भी उसे और झंडी मुख्यमंत्री और मंत्री कार पे भी होती है और प्रधानमंत्री की भी होती है अब कई जैसे भाई अनजान होने की हुए सब फलाना डीसी मुख्यमंत्री हुए है नहीं पर ध्वजा झंडे कभी फर्क है और बंदी छोड़ कभी फर्क है अब इसका पूरा भेद अंदाज आएगा अपने आप समझते जाओगे देखा है अष्ट बुझा पर सहस बुझा है फरक रे फरक धजा निशान और संख बुझा पर मानन इब शंख बुझा भी आगी नील पदम संख संख बुझा परमानंद स्वामी जा मूर्त ऊपर रे जा मूर्त ऊपर मैं कुर्बान यानी अपने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के ऊपर कहता है उसकी शंख बुझान और उस मूर्त पर मैं कुर्बान यानी उसके ऊपर मैं बलिहारी शपथपुरी का शपथपुरी का राज कहा तापरवारों रे तापरवारों प्राण शपथपुरी ध्रुव को मिली हुई है और शपथपुरी भी महाराज के मन जरूरत नहीं मत तो उसके ऊपर अपने प्राण वारू दास गरीब सतलोक बसेरा अब मिट गया रब मिट गया आवण जानो सतगुरु महाराज के हैं दास गरीब सतलोक बसेरा वहां जाए पाछ मेरा आना और जाना दोनों मिट गए अब फिर कहते हैं बंदी छोड़ मेरा मन बस गए साहेब कबीर ते कितनी गहराई से लेते हैं मेरे दिल बस रे साहेब कबीर मेरे दिल बस रहे साहेब कबीर सोवत जागत और सपने में नजर पड़े निर्गुण तस्मीर ज्ञान गुरज मोले न बख्शा ताबे गे पांचों पीर ये काम क्रोध विनो के ठिकाना आगे सतगुर समरत भेद लखाया जाम बस दरिया के तीर जाय बसे दरिया के तीर गगन मंडल गगन मंडल मेरे भाठी सर्व प्याले फिरे अमीर खीर सतलोक को गवन कर हंसा जा देखो बहुहंसन के वीर सतलोक में चालो उड़ने थरे भाई जा रहे हैं कदे ना सोचो कदे कोई भी ना हो बहुत गणे जा रहे हैं एक नो बोला बोला भाई भक्ति तो कर ला पर नो लडर लागे कि थोड़ा कोई भी ना हो एक लाख दे जिए ना लागे मैं बोला आड़ा तेरी जान पहचान थी पहला जब आया आड़ा ये मुंडे फिर गधा बन गया तड़के है नो बोला उड़ा एक लेता अच्छा था गधा भी ठीक है बोला घूम फिर तलेंगे मतलब इतनी बुद्धि गिर चुकी हमारी के जो संत बताऊंगा कहते झूठे हो तो नो बीमारी बढ़ रही है तो यहाँ महाराज कहें वहां बहुत हंसा की भीड़ निरे जा रही से कदे नु सोचा तू एकला दुख पा जा कदे कोई भी ना हो यहाँ पाछा जुड़ा मेरा सा अरे यू जागा एक भी नहीं रहना इन मत तो। ये तो कति नकली और वो असली तो जब हम वहां पहुंचेंगे जब इसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा इस ज्ञान से पेटा भरेगा हमारा सत सतलोक को गमन कर हंसा जहां देखो बहु हंसन की बहु संतन की भीड़ मेरे संत समा पर कह दास गरीब कह दास गरीब या मैं संसा नाही सतगुरु तोड़े जम जंजीर कह दास गरीब मैं संसा नाही सतगुरु तोड़े जम जंजीर अब सतगुरु महाराज कहे कि ये वेद पुराण और वह ये शास्त्र अनिशा कसूता का ये ही का ज्ञान दे है और ये उज्जड़ जेरा बताया ये तो जेरे में गिर रखे तुमने तो पुराना नर वेदान तो क्या कहते हैं चिन्हो सत सपद न चिन्हो सत शब्द न है चिन्हो सत सबद नबेड़ा है यानी सत शबद सत नाम सत शबद सार नाम उस सार नाम सार शब्द को चिन्हो इस तरह तेरा नमेड़ा है इस तरह तेरी पांडा छूटेगा तीनों सत शबद नबेरा है ऐठा ऐठी करते प्राणी यम क्या मेरा क्या तेरा है यो सतगुरु का खेत मंडारे ज्ञान शब्द समशेरा है तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले तीर्थ व्रत ग्यास कर भूले यो एक बड़ा बखेड़ा है चार वेद और प्राण अठारह यो एक उजड़ जेरा से बताओ सीधा तो सीधी ठोकरा की बंदी छोड़ना जमा आम आदमी समझ सके कि कति उजड़ जेरा आप इसमें प्राण आप पढ़ कर देखियो वेद में न्यू लिख रखा राजा ने ऐसे रहना चाहिए एक प्राण एक वेद में भाई कोई हिंसक पशु है तो राजा ने मरवा देना चाहिए को नगरी में निकम्मा आदमी है राजा ने सजा दे देनी चाहिए और फिर राजा नरक भोगना चाहिए यानी उड़ जा पुड़ जाकर उनको फेर वहीं पर ये यहां पर रहन की नियम बना रखे भाई और मुक्ति का साधन नहीं सही न और फिर स्तुति का रखिए भगवान ऐसा है परमात्मा तू नो कर दे है भगवान तू नो कर दे है तने नो कर रखा है तू जो स्वरूपी है अब बंदी छोड़ के हैं तीर्थ बर्त ग्यास कर भूले यो एक बड़ा बखेड़ा है चार वेद और प्राण अठारह यो एक उजड़ जेरा है जा मूर्ति ठाकुर ठहराए नो के पत्थर की मूर्ति बना ली और इसने भगवान कैसे जा मूर्ति ठाकुर ठहराए अरे सो तो घड़ी ठठेरा है चार मुक्ति बैकुंठ नहीं है ओ तो मार्ग अगम उचेरा है उचेरा कह ऊंचा से जैसे सतलोक जाना हो तो बहुत ऊपर से बिराई तो तरले खेल खेल रहे हो तुम कितब माता पूजली कित पानी चढ़ाए कितब पानी है मंदिर में जल चढ़ा दिया शिवलिंग पर गंगा जल लिया कर बोड़े नौ कई और जेड़े बहुत बड़ी तरफ फसरे सो कहते हैं बैकुंठ के जीव आव जाही स्वर्ग के भी चक्कर काटना उल्टी सुलटी बैकुंठ के जीव आव जाही यो हर हट के सा फेरा है और सोलह संख भी हंगम गैली जहाँ सतगुरु का डेरा है यहाँ सोलह संख कह दिया इसका मतलब सोलह संख कोष इब हमने कई सोर्ट महाराज बोले हैं तो आपका समझ में आ जाएगी यहाँ किस ढंग से बोल गए चार मुक्ति बैकुंठ नहीं रे यो तो अगम हाँ, बैकुंठ के जीव आम जाही रहट हरहट के साथ फेरा है सोलह शंख विहंगम गैली जहां सतगुरु का डेरा है गैली कहे रा रास्ता से सोलह शंख कोष की दूरी जो जाने यू रास्ता ऊपर का सतगुरु का जहां डेरा है वर्ष गुरु पर सवेद गुमट है जहां सतगुरु का डेरा कह दास गरीब सतलोक चलो रे धरियो ध्यान उचेरा से एवं ध्यान लाओ उसने कहा ध्यान ला ले बस तीन घंटे नो बैठा करे अरे कितने ठिकाना भी बताया होगा किसका ला ले ध्यान वो आंख मीच कर बैठा रहा ध्यान लाग गए है यह भी कोई बात हुई पहले करनी करो जैसे खेत में नो कह देख काके वो के जाम रहा से वो या सैनिक घास मैं जरूर पा जाएगा तो वहां देख का घास ना आ जा देख है के दिख बहुत बढ़िया लाग रहा से इतना ऊंचा खड़ा से रखे में वो भी रखा होगा नाम सही नहीं है फिर नाम के ऊपर आवे दोनों के नाम किए सब भगवान का कुछ नहीं होता उसका नाम वो तो वही आज बिला बस ध्यान ला ले और वह चीज देख ले नुआख पाड़ कई नो कहे नुआख पाड़ के देख ले बिला वो दिखा से नो घूमता हुआ चीज सी वो तुम्हारे तो बालक देखे हैं वह चीज नहीं से वाह कदे इस बोल मरे आंख पाड़ के देख ले रुआ सामने दिखे से बोला चलती आण देख ले हम सारी आण देखने लाग रहे और सतगुरु उसको रिजेक्ट करते हैं कि यह वस्तु वो नहीं है अब न कहे हमने खूब दिखा सन अब शिष्य में दिखा दे राजा खड़ा देखो मेल से उसका के लाभ हो गया देख भी लिया थे मेल करांगे जब उससे मिलांगे जब के में लाभ मिलेगा ना शिष्य में दिखाए जाओ देखियो दिखा दर्पण में ओ राजा का मैल और राजा को मैं तो उससे लाभ कुछ नहीं है दर्शन तो देख लोगे किसा से लाभ जब होगा तो बीती जाकर उससे मिल जाएंगे तो इब हमने ना तो ध्यान का बेरा और ना नाम की महिमा का बेरा अब ध्यान किस पर धरें जो विष्णु जी के उपासक हैं जो नाम ले रहे से वो अपना विष्णु जी का ध्यान धरेंगे उस पर पहुंच जाएंगे क्योंकि इन सब तो उचेरा ध्यान धर सबसे ऊपर का ध्यान बंदी छोड़कर लगा जब तू वहां पहुंचेगा तो ये दोनों धर्मों को सतगुरु महाराज बता रहे हैं ये और आपको सुनाते हैं कि अब जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं था हम बिने डे डोवा थे और किस्से का खोट नहीं बिरा ये इतना लंबा चौड़ा विस्तार से कि इसको समझ नहीं आए समझ सका सबके बस की नहीं और समझ में उसका होगी जो कि सत्संग में आवेगा अब कहते हैं सतगुरु महाराज दोनों धर्मान पकड़े हैं भाई देख परमात्मा और सतपुरुष है ये तीन लोग मृत मंडल में आकर ना अपनी नारी जात बना रखी है ना स्वर्ग में जात ना कि तौर ये तुमने यहां बना रखी तो क्या कहा ये दो दीन कहां से आई दो दीन दो धर्म हिंदू और मुसलमान की ताए बाई ये दो दीन कहाँ से आए काजी पंडित सब बुलाए इंदो तुर्क की एक माई एक दरगाह एक खुदाई शंकर भगवान के उपासक हैं मुसलमान भाई और नो कहे उड़े तो तम विष्णुम इंदो भी उसी शंकर जी की उपासना करें और तम भी और आखिर में जो अलग पुरुष निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो बेसगुण परमात्मा कहे वो निरंजन ताई का जाप से तो नो कहे उड़े ताई का थारा ब्योत से हिंदुआ का भी मुसलमानों का निरंजन तक की ही उपासना निरंजन काल है यु धर धर खावस ये दो दिन कहाँ से आए काजी पंडित सब बुलाए हिंदू तुर्क की एक माई एक दरगाह एक खुदाई दरगाह में से आया हिंदू यहाँ मुसलमान कर डारा बंदू कि मान लो तुम हिंदू मानो सो मुसलमान ना कहे बंदी छोड़ के जिसकी लिंग की आगे इंद्री की जो है खाल नहीं काट रखी वो हिंदू मानस है और फिर कहे हैं कि मूस काटते हैं आगे ते यहां ते और इस प्रकार वो कहे हैं कि तुम इस प्रक्रिया को ही नो मानो सो को हिंदू है और बाद में मुसलमान बनाओ सो काट पीट के तो कहे कि दरगाह में तो फिर हिंदू आया था तू भी या खुद बना लिया तेना मुसलमान तो अरसनता का कोई हिंदू मुसलमान नहीं है यहां कहते हैं दर्ग में से आया हिंदू यहां मुसलमान कर डारा रे बंदो हिंदू से मुसला कर डारा या सुन्नत की नी जुलम गुजारा इसको सुन्नत कहते हैं जो लिंग की आगे से खाल काट देते हैं हिंदू तुर्क की एक ममड़ी हिंदू तुर्क की एक माता है एक ममड़ी है यानी मां का तो कुछ नहीं कराया ना मुसलमान ना कराया पिता पिता में फर्क कर दिया मां तो वह हिंदुआ की शायद उसमें कोई अंतर नहीं वही मुसलमाना की तो कहते हैं हिंदू तुर्क की एक कै ममड़ी आगे तय क्यों काटी रे चमड़ी वह कुरान वे बात वेदम उस दुर्ग का लख्या न वेदम हिंदू तेनों के वेद बांच ले और वह अपनी कुरान पढ़ लें चार कुरान चारों वेदों से उन्हें काट रखिए जो कि तो मिलती जुलती बात से पर उर्दू और संस्कृत का फर्क है और मतलब घना फर्क नहीं है कहते हैं वह कुरान वह बात वेदम उस दरगाह का यानी सतलोक का तीन वेरा भी कोई उस दरगाह का लख्याना भेदम वह बिस्मल वह झटका कर ही दोनों दीन नरकम पढ़ ही दोनों के नरक में जाओगे हिंदू भी मुसलमान भी जो बुरे कर्म करते और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का नाम नहीं जपते अरस कुरस अरस कुरस बीच पढ़ो किताबा अरस के कुरस पर यानी आसमान के आखिरी छोर पर और वहां ध्यान लगाओ वह असली कतेब से वह वही असली वेद है और वही असली कतेब है यानी स्नाम का जाप करके उस स्थान पर ध्यान लगाओ तो मुक्ति का साधन है जब जिस अल्लाह न तुम बजो सो निरंजन तई का भी लाभ तुम जब पाओगे इन पाखंडा तो नहीं मिले अरस कुरस बिच पढ़ो किताब किताबा मन मन विच मक्का दिल विच काबा सत शब्द कते सत शब्द का कर्द चलाओ और ये पांचों बिस्मल कर लियाओ अब जो कहे ये नाड़ काटो ना बकरी और मुर्गियां की इन ना काटो ये जो सार नाम मिलेगा यह कर्ज चलाओ और भीतर जो विकार से पांचों राक्षस काम क्रोध मोलो बैंकार इन न काटो काटना भी है तो इन न काटो सत शब्द का कर्ज चलावो ये पांचों विस्मल कर लाओ इंदो तुर्क की इंदो तुर्क की एक करनी और तत्व की तस्बी भाई स्वर्त सुमरणी तत्व की तय तस्बी यानी माला और स्वर्त की सुमरणी यानी स्वर्त किसी के द्वारा वो सुमरण करो सतनाम का सार नाम गरीब दास सुन पद पर संगा मन चंगा तक कठोती मंगा बंदी छोड़ के हैं दास गरीब दास सुन पद पर संगा कि ये प्रसंग सुनो जो हम बता रहे हैं और मन चंगा तो कठोती में गंगा जैसे रविदास जी ने उसमें कुंड में ढूंढ गंगा बता दी थी कि ले भाई इसमत कंगन काट ले तो इस प्रकार जो हम पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी करेंगे और सुनेंगे तथा समझेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा तो अब हम इसी का प्रमाण बंदी छोड़ कबीर साहब ने दे रखा है अब इसको हम बताते हैं आपको सुनावे इस शरीर को महल कहा इसको पिंड कहा और जितना ब्रह्मंड है मैं काम समान सब सारा इस पिंड में है चैनल लगे हुए हैं कहीं से देख लो यहां बंदी छोड़ कहते हैं कबीर साहब करने नो दीदार महल में प्यारा है करने नो दीदार महल में प्यारा है इन आख्या तो नहीं कह रखा उन्हें वो आंख और से जिसको दिव्य दृष्टि कहो उससे जो है आपको दर्शन होंगे कैसे कहते काम करो तो मद लोभ बिसारो और सील संतोष अक्षमा सतधारो मध्य मास मिथ्या तज डारो वो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है कि ये सारे विकार छोड़ो पहला थे सारे विकार त्याग के और ज्ञान रूपी घोड़े पर सवार हो जाओ यानी शील संतोष विवेक सक्षमा और भाई बुराइयां तज के मांस मद इनको मिथ्या तज कर समझ कर छोड़ दो और हो ज्ञान घोड़े सवार भ्रम से न्यारा है कि जब भ्रम तमुर जपड़े हो इसमें वस्तु नहीं मिलेगी कते धोती ती बस्ती पाओ देख बंदी छोड़ना कदे करी नहीं और लिख दी सारी अब धोती धोती कहते हैं दो तरह की धोती एक तो पानी पी कर काट दे उसको जल धोती कहें एक होता है को लगभग 20-25 फुट का एक चार छह उंगल का पट्टी सी हो सफेद कपड़े की उसने सारी ने चाब का योगीजन भीतर ले जा पेट में और फिर उसने पकड़ कर काट दें भीतर जो आता में जमया हुआ सारा सौदा उस धोती गेल कपड़े गेल बाहर आ जा या धोती है दो प्रकार की नीति एक तो जल नेती हो जो इसमें पानी टूटी फंसा के लोटे की और न्यो कर दे इसमें आंख में गले खिडाया करे और एक सूत की सूत्र नीति के है एक धागा सा उसे उसने इसमें फंसा कर मुंह में काट ले पकड़ कर न्यू कर ले यानी यो करें फिर बस्ती बस्ती के अनिमा जैसे आपने देखा होगा किसी का बंदा पड़ जा जब गोदाम कहकर नली देकर ऊपर पानी भर दिया कर उसमें एक उसका साबुन से का और दवाई सी उसे और फिर न को उसने काट दे फिर तेरा शरीर स्वस्थ हो जाए यानी साफ हो गया और प्रकृति तेरी शांत हो जाएंगी और फिर नो के ध्यान लगा ये योगियों के लिए बता रहे कहते कोई सा तुम करा जाग लाग जाओ करण तुम ना छेड़ियो हाँ कहते पंगा पा लो खाऊंगा पर ये न्यो बतावा कदे न्यो के हैं जैसे स्वामी जी लिख रखा महर्षि दानंद जी ने क्यों तो एक नीचा का टोड़ था है और उसने क्या है बेरा नहीं था और उसके से कुछ जीव इकट्ठे हो गए जो नीच जाति के और उन्हें बढ़ाए जाता उसने नहीं बेरा था क्या है का अब ये बताइए इतने महापुरुष ने इतने महाबंदी छोड़ पूर्ण पूर्ण परमात्मा के बारे में एबीसी का ज्ञान नहीं था कितना गलत लिख दिया अरे सत्यार प्रकाश को गुरुकुल झज्जर के अंदर आप जाके देखियो ताम्र पत्रा के ऊपर ने खुदवा रखा कि इसी सुथरे ज्ञान ने कदे आने वाली पीढ़ी कदे खराब ना कर दे वो लो अब बोरी माते एक परखी मार के देख ले भाई जो चीज उसमें सवाए पाओगी सारी में जब एक का ज्ञान गलत है इस सत्यार्थ प्रकाश में तो और की टाट काट रखी होंगी वही ये विचार कर लो तुम और और की पट के मिला के देख लो हमने अपना का तो निरोल ही लिया कि कति झूठ रहा कि सौ की सौ महाराज स्वामी दयानंद ज्ञान यदि वो जाने कैसे लिखी क्या देखा ये आपके सामने तो यहां कहें सुयोगियों को बंदी छोड़ने फेल कर रखा है भाई कुंभक कर तीन नेती बस्ती पावो आसन पदम जोगत से लाओ ये आसन पदम आपको दिखाऊं ये आसन पदम है एक टांग उस टांग पर चढ़ा ले ये आसन पदम है आसन पदम युगत से लावो और फिर कहे कुंभक कर रेचक करवावो पहले मूल सुधार कर्ज हो सारा है अब यू करके फिर के कर कि मूल कमल में आ जा गणेश का जो चक्कर से उसमें आओ योगी आते हैं कहते मूल कमल चतुर मूल कमल दल चतुर बखानो ये गरीबदास जी के ये कबीर साहब एक थे ये दोनों वही कबीर साहब थे वही उनकी शक्ति जो के तुम गरीबदास जी थी मूल कमल दल चतुर बखानो मूल कमल की चार पंखड़ियां हैं और किलियम जाप लाल रंग मानो और बंदी छोड़ गरीबदास जी भी ने कहे कि मूल कमल में गणेश वासा रक्त वर्ण रक्त कहे लाल को रक्त वर्ण जा जानिए किलियम जाप कुलीम तज शब्द हमारा मान मानिए यही कबीर साहब प्रमाण देते हैं मोल कमल दलत चतुर बखानो बखानो माने वर्णन करूं और किलियम जाप लाल रंग मानो वही किलियम जाप रक्त वर्ण देव गणेश तारो प्यो थानो रिधि सिद्धि चौर ढुलारो है रिधि सिद्धि के दाता है किलियम जाप से रिधि सिद्धि आ जाएंगे फिर कहते हैं स्वाद चक्र सट दल विस्तारो स्वाद चक्र ब्रह्मा और सावित्री हैं उसमें छह पंखड़ी का कमल है स्वाद चक्र सट दल विस्तारो ब्रह्मा और सावित्री रूप निहारो और उल्ट अग्नि का शर मारो ता शब्द ओंकारा है ओम जाप जपन सा ज्ञान योग दानत बिरला दास है ये बंदी छोड़ महाराज चौके तो मिला रही दोनों सन दोनों परमात्मा नाभि अष्ट कमल दल साजा नाभि कमल की आठ पंखड़ी है और श्वेत सिंहासन विष्णु राजा श्वेत रंग है और विष्णु जी लक्ष्मी सहित बैठे श्वेत सिंहासन विष्णु राजा अरियम जाप तास मुख गाजा खुद भगवान विष्णु भी हरियम जाप जपता है और फिर कहें लक्ष्मी शिव आधारा है अब यहां लक्ष्मी शिव आधारा है यहां लक्ष्मी शिव का मतलब है शक्ति लक्ष्मी शक्ति यानी माया भी उसके साथ है द्वादश कमल मद द्वादश कमल हृदय के माही जहाँ गौर शिव ध्यान लगाही और सोहम शब्द तहा धुन छाई गण कर जय जयकारा है वहां ये हृदय कमल बताया जहां पर शिव जी का शंकर भगवान का लोक से सोडस कमल कंठ के माही सोडस सोलह कमल है उनकी पंखड़ी कमल एक से पंखड़ी सोलह सोडस कमल कंठ के माही और तिस मद बस अविद्याबाई हरिहर ब्रह्मा चौर ढुराही जहां श्रीयम नाम उच्चार्या है वहां विद्या यानी अविद्या कहो अष्टंगी कहो वहां ये बैठी है हर कंठ कमल में और उसका श्रीयम नाम जप है इब हाँ, वो जो नाम इस तीन लोग के भगवान जपे वही हम जपे तो जो जिस नाम से वह शक्ति ले रहे हैं वह हमारे मान लाग रही है यानी सीधी मैन मोरी मारी लागी वो भाई मत लुआवे हम सीधी लुआ रहे हैं अपनी यानी जिसकी मौत भाई पहुंच हो जाओ कि ला लो तो पूर्ण राम के ये सतनाम से तीनों चारों पांचों देवताओं के अगर ब्रह्मा का लाभ लेना है तो हम जाप जपो विष्णु का लेना था तो हरियम जाप वो भी गुरु से लेके अपनी मर्जी से नहीं तो आपको पूर्ण लाभ इन देवताओं का भी मिलेगा ये प्रसन्न हो जा फिर कहे भाई तापर कुंज कमल है भाई बंग भंवर दो रूप लखाई कंज कमल त्रिकुटी कमल न कहे बंग भंवर बंग कहे बुगले ने सफेद भंवर कहे काला भंवरा होता है वहीं गरीबदास जी कहते सवेत भंवर या बंग भंवर यानी कोई अंतर नहीं दोनों परमात्मा में ज्यो की तो पैड़ी मिला रखी बंग भंवर दो रूप लखाई निज मन करता ता ठकुराई सोने नन पिछुआरा है अब कई इन आख्यान देखे इनके पीछे सो इस स्थान पर इन आख्या के पिछली तरफ है यहाँ सारा सौदा यहाँ पर है और वो जो है ना जहां पर इन दोनों का आगे एक जाके एक जगह रोशनी हो जैसे एक आंख तो देख देखा वो भी उड़े दिखे से इसने मीचना जब भी वहीं से दर्शन हो रहे हैं आगे जाके दोनों एक जगह उस तीसरे तल पर मिले प्रथम तल पर मिले हैं और ये जो और देखे हमने कई पंथा वो तीसरा तल है वो प्रथम शुरू वहां से होता चले तापर कुंज कमल है भाई बंग भवर दो रूप लखाई निजमन करता चा ठुकराई सोने नन पछुआरा है वहां क्या का पुछला हिस्सा है और कमलन भेद किया निर्वारा ये सब रचना पेंड मझारा सत्संग कर सतगुरु शरधारा वहां सत नाम उच्चारा है ये जो आप देख रहे हो ये रचना पिंड में शरीर में है और फिर कहें सतनाम सत्संग कर सतगुरु शरधारा सत्संग ही आप सुन रहे हो पूर्ण ज्ञान हो गया ईब गुरु बनाओगे तो आपको वो उपरला भेद बताओगा सत्संग कर सतगुरु शरधारा वहां सतनाम उचारा है ईब सतनाम दिया जाएगा अपने हंसों को हम सतनाम देते हैं पर सतनाम सतनाम नहीं है वो नाम और से जैसे ने दवाई दिया करा तो दवाई का अगर नाम और नंबर और हो पेट की का नारा नाम सिर के दर्द की का नारा नाम वो नाम और से सत नाम कोई और नाम से भाई आंख कान मुख बंद करावो अनहद झंगा शब्द सुनावो दोनों तल एक तार मिलावो तब देखो गुलजारा है अब देखो कई साधनक बताते हैं एक बताओ था एक पंथ से आया था ने बोला जी उड़द बताओ आंख कान मुख मुंद का नो अंदर कोई आवाज सुने से महाराज क्या हुआ जिंगे कैसी आवाज बताओ ऐसे खेता में शाम के समय जिंगा झरण झरण बोलता रहता है वो आ जाती है तो कहते हैं कि यह कोई खास बात नहीं इस जंगे जंगे तो कुछ नहीं बनता जंगे तो करा कितने घोष है और जंगा शब्द तो ऊपर तो बहुत बड़ा शब्द है जो कि हम असली जो रास्ता बताएंगे वहां पर और आवाज आवेगी जिसको सच्चे नाम की शब्द और धुन कही जाती है यहां कहा भाई चंद सोर एक गहल्याओ चंद कहते हैं इसको एक तरफ है चंद है ये तो चांद है जो कि बाया नाक और इधर का गर्म है इसको सूर्य कहते हैं कद चंद सोर एक गहल्याओ और सुषमण से ध्यान लगाओ त्रिवेणी को संग समावो भंवर भंवर उतर चल पा रहा है